नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सधामदम् निकाम श्यामसुन्दरम् भवाम्भुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निसङ्गचापसायकम् धरम त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेव विग्रह विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इंदिरापति सुखाकर सतां गति भजेश सशक्तिनानुजम् सचीपति प्रियानुजम त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हि नमसर पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचिसङ्कुले विवेक्तवासिन सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरश्चयन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतम् तुरीयमेव केवल भजामि ते भल भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं पादपम समं सुसेव्यमन्वहम् अनुपरूप भूपतिं न तोहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पराब्ज भक्तिदेहि में पठन्ति ये तवम् इदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशय व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीयभक्तिसंयुता पठन्ति ये स्तवम् इदं नराधरे न ते पदं नात्र संशयम् त्वदीय भक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्तिसंयुता हे करुणानिधि भगवान् करिए अब शक्ति प्रदान हे करुणानिधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान गुण गाए आपका भगवन आनंद सहित हो कीर्तन गुण गाए आपका भगवन आनंद सहित हो कीर्तन हो उच्च कोट का जीवन उल्लास भरा हो तन मन हो उच्च कोट का जीवन उल्लास भरा हो तन मन फिर हम भी हो बलवान करिए अब शक्ति प्रदान हे करुणा निधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान हे नाथ दुखी हम अतिशय हे नाथ दुखी हम अतिशय प्रभु कहलाते करुणा में है बार बार यह अनुनय हो राधे श्याम हम निर्भय हो राधे श्याम हम निर्भय दीजिए यही बरदान करिए अब शक्ति प्रदान हे निधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान हे निधि भगवान करिए अब शक्ति प्रदान करिए अब शक्ति प्रदान करिए अब शक्ति प्रदान श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए दो चार तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है अब कैसे पाँव बढ़ाना है लंकापति तो चुप बैठा है कुछ खबर नहीं क्या ठाना है लंकापति तो चुप बैठा है कुछ खबर नहीं क्या ठाना है हम तो उसके घर आ पहुँचे वह नहीं युद्ध में आया है लंका के द्वार क्यों बंद है कुछ भेद नहीं इसका पाया है लंका के द्वार बंद क्यों है कुछ भेद नहीं इसका पाया है प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा अपने सचियों के साथ वहाँ भी विचार करता होगा कुछ दिनों और देखिए राह यह वीर नीति बतलाती है रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग नित्य शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है मुझको तो बहुत खटकती है एक एक घड़ी से तामा को बरसों की नाई कटती है एक एक घड़ी से तामा को बरसों की नाई कटती है हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे चुटके में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे चुटके में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने आएगा सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार सीता माँ का उद्धार कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार सीता माँ का उद्धार चले तुरत कपि अनंत तेजवंत क्रोधवंत हो भिड़ंत पर भिड़ंत कर दे बंटाधार सीता माँ का हो उद्धार कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार स्वर्णकोट धा सिंधु में बहा दैत्य कुल मिटा मृत्यु का पथ दिखा सिलवंत वो जवंत धर्मवंत धैर्यवंत अंत तंत जान के कुलाएंगे छुड़ा तब है अपना नाम शीघ्र हो सब काम जीत जाए राम जय हो राधे श्याम इस प्रकार यहाँ विचार कीजिए स्वीकार सीता माँ का हो उद्धार कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार सीता माँ का हो उद्धार कर प्रहार तोड़ द्वार कर दे हाहाकार कर दे हाहाकार बजरंगी के बात सुना बोल उठे कपिराए जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय